प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी ओएगी एक संत है इधर छोटी जाति में है उसका सुदर्शन नाम है नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं बाल्मीक यानी भंगी के घर में जन्म है और वो संत आवे तो बात बन सके तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था उससे पूछते हैं वो कह के आए कि नहीं संत को अर्जुन बुलाया कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे उधर कह के नहीं आए उनको अक है जी संत पर वो तो अभिमानी बहुत है के बात है कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलियो महाराज तो वो कहने लगे कि सौ यज्ञ का फल मुझे दे दो पहले तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू क्योंकि तुमने इतने पाप कमा रखे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो भाई हम भोजन खाने जाए तो, तो आपने क्या जवाब दिया मैंने ये जवाब दिया भीम कहने लगे तो भीम से कहा तो उन्होंने बोला जी वो तो न्यू कहने लगा कि सौ यज्ञ का फल दे मैं जब चालू मैंने कहा कि मारी तो प्रथम यज्ञ और देख लियो थारी इच्छा होता तो आ जाओ आपने तो उल्टी आंट लगा दी तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला मैं समाधान बताऊं वो अगजीब के बना मेरे साथ चलो खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और पांचों पांडु राजा छह के छह चले जाते हैं और जाकर के उसमें क्या हुआ वो सुपच सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा वो सुपच जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में छोटी जाति में वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को पर जो फीत लागगी वह कहनी पड़े वाल्मीकि महर्षि भी हो गए पर भी वाल्मीकि कहना नहीं छोड़ा उसका तो वो कबीर साहब के शिष्य थे अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में द्वापर में करुणा में नाम से आए थे कबीर साहब वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष के उपासक थे अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है हमें मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं इसमें कोई शक नहीं लाभ जरूर ले रहे हैं और जिसका प्रधानमंत्री तो मेल हो रहा है वो न्याराय संत वो, वो सिफारसी न्याराय पाओगा तो इस प्रकार यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे आपको व्याख्या करी थी ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपत सुदर्शन ने उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और पांचों वो पांडव उनको बुलाने के आमंत्रित करने के लिए जाते हैं तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुपत सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं भगवान कृष्ण जाते हैं जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं ग्रंथ साहब के सामने और संतों को इस प्रकार पांचवों ने जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तब तो पांचवा ने उन्न भी करनी पड़ी तो उठ कर कहते हैं सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है अब आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए तो भगवान कबीर साहब कहते हैं सुदर्शन सुदर्शन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बात ऐसी है कि ये भगत जी आया था चार पांच दिन हुए जब भीम का नहीं क्यों भीम तो नारा पछाण में आवे अगिस को मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने सौ यज्ञ का फल दे दो कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे ने बोले महाराज आप ही की वाणी है क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगाम लिखाए लिखा है जो के तुम तो आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे ओहे यज्ञ समान अब जितने भी भक्तात्मा चाहे करोड़पति चाहे कोई बड़ा अफसर चाहे कैसा भी है गरीब जो यहां से सद्भाव से सत्संग समागम आया है अपने अहंकार अभिमान ने त्याग कर तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है ये संता की वाणी है तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान हे सतगुरु आप अपने सौ यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो जोड़ी में हमारा भी उद्धार हो जाए इतने भी नम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं ये मानता का सबूत होता है जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला कर करड़ा करड़ा रहा कर भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और तीन लोग के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान जैसे बरबू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके और फिर भी उनकी टांग पकड़ के बोले ए महाराज इसे बजर के और फूल के सी लात गई कदे टूट ना गई हो आपका दर्द तो नहीं हुआ और मारा के साथ उसकी पकड़ के टांग हनुमान मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था फुटम कुटा नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि सो यसु अच्छा फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब और ने बोला वह चालना चालना और अपनी सुमरनी माला थी खुट्टी पर रही थी भीम ताई ने बोले भाई भीम एक सुमरनी ठा लाइए मेरी अब भीम वो माला तारण जा सर भीम पर माला नहीं उतरती उनकी और पसीना पसीना हो रहा उस भीम ने नौका हाथी भगा दिए थे और वास्ते गोटे नहीं आ लिए और वह उस संत की माला नहीं उतरी जब कब और उसके मन में भी इनका था कि कृष्ण जी क्या नाराजीकरण लाग रहे हैं रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी टूटे से जूते लाडी सी लंगोटी ढाडी बदी हुई सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें इस रूप में बंदी छोड़ हुई तेने बोला रहा भीम मेरे में तक तो में शक्ति ना पर सुमरणी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागत ले नाड़ कर ली और महाराज ने उठ कर अपनी सुमरणी ठा ली चाल पड़े अब यज्ञ मंडल में आ जाते अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े उपरुख स्टेजा बैठे बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पर कर पांच पांच तलक ला कर छह छह और उस बूढ़े से महात्मा ने देख कर भीतरे भीतर तांस से अगले से शेर यू बजाओगा इनका संख्या पर ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना थोड़ा शंख बाज जाएगा अब मन में ये संख्या हो द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी इसी विद्वानों से ऐसे ऐसे जो छद बैठे अरे तना बाज जाइयू मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो मन बहुत खतरनाक चीज है फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन छत्तीस प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ला चांदी की थाली में नैरी नैरी कटोरिया में और रख दिए अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन दिया ने के करा क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे सुदर्शन ही का चले गए यहां अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे जैसे कि, कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उभारण खातिर तो सुदर्शन जी ने के करा वो सारी जो किसी में खीर था किसी में हलवा था किसी में किसमस और तरह के कई प्रकार के पकवान बना रखे थे छत्तीस प्रकार के वो सारे ज्यो के त्यों एक थाली में कट्ठे कर लिए थोड़े थोड़े जितने खाने थे और उसकी खींचडी सी रड़ा ली जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए यानी रड़ा लिया और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी अकबर ने इतने जी ला का भोजन बनाया से और संत खाओगा और सराओगा उंगली चाटेगा इसने कभी खाई भी ना होंगे इसे भोजन और जब उसने नो देखा कि मेरी तो दो घंटे की आंख फुड़ाई चूल्हे आ गए दुमे में और इसने जो है ना ये सारा जो है खिचड़ी बना ली इसने स्वाद का भी ना बेरा यू कित के शंख बजावेगा यू गलीज यानी मन बहुत कसूता कह रहा के, के विचार करगी एक सेकंड में के इसने जो ना खान का बिना बेरा यू कहा के संत संख शंख बजावेगा इसने लिया इसे पकड़ के ये बहुत कसूता है मन के मते ना चालिए मन है पक्का दूत अरले डूबा दरिया में फिर जात छूट एक बार कुक्रम करवा दे लठ बजवा दे मुकदमा करवा दे फिर भारा हो जाने का हमारा समझौता करवा दे तो पहले कबीर साहब ने कहा पहले समझौता कर लो ने दो गाल दे दे अपना कान बोच ले दो मार ले जब भी सबर कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन आते हैं अराजती किसे की इज्जत ना रही सही ने जो राजे हो दिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनीम जा ली तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया तो क्या किया उस संत ने सुदर्शन दिया ना पांच बार वो भोजन खाया पांच ग्रास में वो खा गए सारे को और पांच बार शंख ने आवाज करी अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी शंख बाज गया कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई ये तो अखंड बजेगा और इसकी धुन जागी इतनी प्रेम से बजेगा यो और जब यज्ञ संपूर्ण होगी अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया अकीब किसी ने ढूंढ कर लाएंगे भगवान कृष्ण कहने लगे कि ना और कुछ नहीं ढूंढना इस संत के बराबर तीन लोक में कोई शक्ति नहीं तो वर्णन कर रखा गरीबदास जी ने कि इस बाल्मीक के बा, वो बाल्मीक वो बाल्मीक ने जिसने गीता लिखी थी ना ये रामायण लिखी थी वो बाल्मीक जो भंगी के घर में जन्म होने के नाते से उसको बाल्मीक कहा गया सुदर्शन भी कहा सुपच भी कहा सुदर्शन नाम था वैसे सुपच भी कहते बोले इस बाल्मीक के बालसम इस सुदर्शन के बालसम ना ही तीनू लोग ये इतनी शक्ति का संत है पर ना जच्चे तन्यो बोला द्रौपदी तेरे मन में कोई कमजोरी आई से और नौकरी इसके पांच होकर पी ले जब थारी अग संपूर्ण होगी और ना फिर मन में मत ना कहिए अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के द्रौपदी ने उस बूढ़े से संत की पांच धोए चरणामृत लिया और फिर देखे जब आधा द्रौपदी ने पी लिया ना जब कृष्ण भगवान ने बोले द्रौपदी देखे मेरे मन दे दे थोड़ा सा आधा उस चरणामृत को भगवान कृष्ण ने पिया उस सुदर्शन के चरणामृत को यहाँ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि उस अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे कबीर साहब के शिष्य उस चूड़े का जिसने हम बाल्मीक और भंगी और नीच जाति का कहते हैं संता का नीच नहीं जात नहीं है गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई और कर्म कर्म कुकर्म कहा मैं दोई बूढ़े काम करनिया नीच काम करनिया थे ब्राह्मण जाति का वो नीच है और अच्छे काम करनिया थे समाज उसके कहें फीत ला रहा है वो ऊंच है ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक और स्वर्ग तक उसकी जानकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है तो उस भगत ने यह भी प्रश्न किया मेरे से नकलोई गांव का है वो कहने लगा जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुपत सुदर्शन ईसा के होगा जिसने कृष्णता ही कोई फेल कर गया ऋषि इसी विद्वान बैठे थे सारी महाभारत को फेल कर गया वो वो तो नायक वो था सारी उसका जिस जो किसी से काम या उसने न करके दिखा वो क्या चीज थी मैं सारा जा लिया था जो जिसने कृष्ण से भी सुपीरियर शक्ति थी तो वह कौन चीज थी पर ने बोला सब टाल मकोड़ कर जाते और मैं कहा ये प्रमाणित शास्त्र है कबीर साहब का गरीबदासियों का जिन्होंने महाभारत जो की दो लिखती गीता जो की लिख रखी इसमें तो क्या वह ये भी झूठ लिख सकते हैं क्या जरूरत है उन्हें इस झूठ को झूठ लिखने की सच को सच को झूठ लिखने की या झूठे लिखने की फिर ये सारे शास्त्र गलत से भी फिर तो सारी झूठ से इन शास्त्रा में भी अगर आप इस शास्त्र को गलत कोई मानना कि ये गलत से तो फिर ये सारे गलत से और नहीं हम सारा को सत्य मानते हैं ये भी सत्य है और ये भी सत्य है अब जो किसी में ज्ञान है कि दिल्ली तक ये स्टेशन आवे हैं और आप भी जा रहे मैं भी जा रहे यहां से दिल्ली दोनों आगे सही मिले हैं और हम आगे कलकत्ते ताई नहीं गए और वही आदमी फिर बतावा कलकत्ते ताई ये स्टेशन हो रहा है क्या वो झूठ बोलेगा नोकमत जाकारा हूं ये टेसन लागे जब यहां तक कि हमारे सारे मिल गए तो अगले भी सत्य है पर हम ना गए हैं नहीं मानते वो हमारी कमजोरी से जब चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उन्नीस महाभारत गीता रामायण वो ज्यो की तो इसमें लिखी गई और उसके बाद बताया कि भी एक परमात्मा और सजिशन तुम भूल रहे तीन परमात्मा तीन लोग के मान इसके ऊपर ब्रह्म जिसको निरंजन वेद ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है आप पार ब्रह्म की बहुत स्तुति सुनी होगी जब दादा और परदादा दो नाम से तो व्यक्ति भी दो से और परदादा उस दा, बाप थे थोड़ा दादे थे भी बड्डा से यानी उसका बाप से इसी प्रकार हम ब्रह्म को अर्ण को वो पार ब्रह्म से ये अनदान आदमी बंडा सके कि ब्रह्म और पार ब्रह्म एक चीज से मंत्री प्रधानमंत्री में अगर अंतर कोई नहीं जानता वो तो नो मान लेगा कि एक क्या चीज से पर हम नहीं मान सकते जिनको ज्ञान है तो ये बंदी छोड़ने ये कहने की कोशिश की है कि ब्रह्म तक का ज्ञान ये तीन लोग के शास्त्र सारे देते हैं उसमें मुसलमानों के भी आ लिए और अपने हिंदुओं के भी आ लिए क्रिश्चनियों के भी आ लिए जिस जिस क्रिस्टिस की भी जो स्टोरी है वो यही तक का ज्ञान है अब इस तीन लोग के और फिर लोग तो और भी गणे मानना हम हम खुद मानते हैं कि लोग तो बहुत गणे हैं शास्त्र बताते इस प्रमाण को दे रहे और फिर हम लोग हैं कि किसी से हमने बात की न बोला शंकर भगवान या विष्णु भगवान का जो उपासक होता है वो नो यू ए ब्रह्म से और यू ए पार ब्रह्म से अब भाई डीसी ने को मुख्यमंत्री या तक डीसीए से मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जब तीन लोग के कहा या तो फिर शुरुआती से सारे शास्त्र ने कंधे अनंत लोक ब्रह्मंड के परमात्मा है जब शास्त्र तीन लोग के कह राम लोग ना यू अनंत लोक के ब्रह्म तो या देखो जितनी इनमें शक्ति है वो गरीबदास जी ने इन शास्त्रा से तो ज्यादा वर्णन कर रखा है राम और कृष्ण की कि जितनी इनमें शक्ति है तीन लोग के भगवान नाम वो तो वर्णन भी नहीं कर पा रही है शास्त्र और इन्होंने कर रखी है लेकिन इनसे ऊपर एक और शक्ति है ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म ये ब्रह्म के अवतार है तीनों ब्रह्मा विष्णु में यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए ब्रह्म ज्योत निरंजन है ज्योत निरंजन काल है संतों ने बताया ज्योत निरंजन जो हम जाप करते हैं ये काल तक का जाप है वेद उसको ओम जाप कहते हैं और और संत जो है उसको ज्योत नरंजन अलख नरंजन नाथ परंपरा के संत हमने देखे जाकर मोगरा खड़का ग्रह अलख नरंजन तो वही अलख नरंजन वही ज्योत नरंजन वही ब्रह्म वही ओम ओंकार वही तक का ज्ञान इसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्म से पार ब्रह्म पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के अवतार कबीर साहब आए अब ये शास्त्र ज्ञान दे वो भी ज्ञान हमें शास्त्रों से हुआ घर का तो नहीं किसी का ये शास्त्र आपके पास रखे हैं और ये भी शास्त्र है जो लिपिबद्ध किया गया ये तो छह सौ वर्ष पहले का शास्त्र है ये लाखों वर्ष पहले के भी हम सत्य मानते हैं रह भी सत्य और ये तो सौ वर्ष पहले का लिखा हुआ शास्त्र है कोई दो भी नहीं और गरीबदास जी ने लिखा हुआ तो हमारे पास हाथ से मौजूद है कोई ने सोचा बाद में मिला लियोगे झूठी साची कई भाई ने कहे हमारा रामायण में गोपाड़ पेल रखे गोपाड़ तो उनको है जिनको ज्ञान नहीं शास्त्र में गोपाड़ पेलन की कोई जरूरत नहीं थी क्या सकता था उन संतों को इसमें को पढ़ उस समय की जो परिस्थितियां थी आज हम मान ही नहीं सकते आज से सौ साल के बाद कोई न्यो नहीं मान सकता कि पांच मण वजन नठानिया को आदमी हुआ होगा और आज से तीस साल चालीस साल पचास वर्ष पहले आम व्यक्ति पांच मण वजन न ठाकर छात पचट जाया करते थे और आने वाले सौ साल में कोई इस बात में स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई पांच मण वजन ठानिया क्यों ऑर्डर रह जाएंगे क्यों सी गरीबदास जी लिख रखा है इसमें कि आठ जब कलयुग का अंत होगा पंद्रह वर्ष बीस वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्य की और पांच उसमें से खंड होगा जिस प्रकार आज हमारी सौ साल की उम्र मानकर चल रही है सौ पूरा कोई नहीं कर रहा को पचहत्तर में को सत्तर में को साठ में को पैंसठ में को अस्सी में चालते बने हैं तो अंत जब होगा जब बीस साल की उम्र रहेगी और पांच उसमें से खंड होगा पंद्रह साल मर पड़ कर पूरे होया करेंगे इतने कसूते यहां पर दुख होया करेंगे दुख तो ही हो, हो चुके शुरू और और आने वाले समय में तो इतना दुख इस जीव को हो जाएगा या कैर हो जाएगा हर जीव के ऊपर चाहे मनुष्य है चाहे दूसरे तो पंद्रह साल की उम्र होगी बीस साल की जिसमें पांच खंडा और पांच साल की लड़की के बालक होने शुरू हो जाएंगे ये समय आओगा और गल खोज कर खोल कर ये जीव रहा करेंगे मनुष्य जाति के कोई मकान नहीं रहेगा क्योंकि उस समय वर्षा अभाव हो जाएगा और इतने जंखाड़ चला करेंगे कि भूचाल आया करेंगे मकान बिल्डिंग रह नहीं सकती और उसमें बिल खोद कर ये प्राणी रहा करेंगे ये कलयुग के अंत की बात बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई तो प्रकरण ये चल रहा था कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर क्या हुआ यज्ञ पूर्ण हुई युधिष्ठ को सपने आने बंद हुए यज्ञ धर्म करने से कर्म शुभ कर्म बढ़ जाते हैं माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे या भूल मत करियो कि कोई नौका मैंने यज्ञ कर दिया और पिछले पाप कर्म खत्म हो गए यज्ञ का फल अलग से मिलेगा और पाप कर्मों का अलग से मिलेगा धर्म का जैसे यज्ञ क्यों करवाया गया जिस प्रकार सब्जी में मृत ज्यादा हो जा और वह ना खाई जाती होते तो घी घेर ले पर जो अवगुण मृत का सब भीतर शरीर में जाकर अवगुण मृत जरूर करेगी खा जरूर गए नमक जैसे ज्यादा हो गया उसमें घी डाल लिया वो भी कम हो जाएगा लेकिन नमक अंदर जो डिफेक्ट नंबर नमक ने या फायदा करना वो जरूर करेगा इसी प्रकार हम पुन कर्म जो करते हैं पाप कर्मों को जैसे भाई अच्छे धर्म कर रखे आज वो करोड़पति हो गया इस दुख का बचा पैसे की कमी ना रही लेकिन जो और उसके भाग के कर्म से वो भोगने पड़ेंगे उसका बालक भी मर जाएगा टांग भी टूट जाएगी अधरंग भी मारेगा अंधा भी होगा चाहे करोड़पति के पति हो वह कर्म अलग से वो सुख न्यारे कर्म का से तो यहां तीन लोक की व्यवस्था का प्रधान ये है कि जिसे कर्म जीव करेगा वो भोगने होंगे और ये बंदी छोड़ महाराज कहते हैं हमारी शरण माए पाच उस पूर्ण पर सत्पुरुष सतपुरुष की शरण माए पाच और सच्चे नाम का सार नाम का जाप करनी है पै ये पाप कर्म खत्म हो जाएगा अब यह बात नहीं जचे थोड़ी सी कि इनमें के शक्ति होगी कि ये खत्म कर दें ये कर सके और तीन लोक की व्यवस्था में ये कर्म खत्म नहीं हो सकते क्यों फिर गीता का ज्ञान जूठा और ये प्रमाणित से त्रेता युग में रामचंद्र जी आने बाली मारा था और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आकर उसका बदला देना पड़ा अपने कर्म ने खुद भगवान विष्णु नहीं काट सका वो भोगे सरा तो इनकी उपासना से आप अपने कर्म कटवाण की दबाट देखियो मत ये कबीर साहब कहते मैं नहीं कहना ना ये गरीबदास जी कहते हाँ इनकी उपासना सुख जरूर मिलेगा जैसे मार्गदर्शन गीता जी में किया वेदों में कर रखा इसके अनुसरण अगर आप करोगे तो आप इस तीन लोक में सुखी हो सकते हो पर जन्म मरण की बीमारी तक फिर भी नहीं बच सकते ये कभी साहब आज तक हमने कथाएं पढ़ी शास्त्र ज्ञान किया रामायण पढ़ी महाराज भगवान राम का ज्ञान हुआ कोई बात नहीं और ईष्टवादी होकर के हम उसके जैसे भगवान कृष्ण जी ने कि हम लीलाएं पढ़ते हैं उसमें कई ऐसी लीलाएं भी हैं जो कि आम व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और अच्छा व्यक्ति नहीं मानता लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते तीन लोक के जो परमात्मा होगे वो जो चावे सो कर सके कहते हैं गरीबदास जी के शेष गोपी का भोग कह फेर जति कह लाया और ऐसे त्रिभुन राय है एक जाके पाप लग्या ऐसा त्रिभुन राय कृष्ण भगवान सोलह हजार गोपिकाएं के साथ भोग विलास किया अब कई बाइकें ऐसे कि जब वो इतने खोटे कर्म करा करता क्या कहा भगवान अब इस बात में हम नहीं पढ़ते वो भगवान तो वो था तीन लोग के उपासक थे परमात्मा <clears throat> और लीलाएं ये सारी सत असत माननिया अपनी कमजोरी में से अब हमने उस ज्ञान को मिलाना सह के कहां तक कौन सा ज्ञान हमें श्रेष्ठ और कहां ले जाएगा अब क्या हुआ कि बाली जोश है त्रेता युग में मारा रामचंद्र जिया ने विष्णु अवतार जिया और फिर द्वापर में बालिया मर ने भगवान कृष्ण के पाम में बाल मारा तीर और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़कर और लोक में जाने लग गया जब वो स्वर्ग में जाने लगा उस समय उसने अपने पांचों प्रिय भक्तों को पांडवों को बुलाया सबने कहा कि महाराज ये क्या हो गया जुल्म हो गया किसने मार दिया लिया उसको अभी खत्म कर देते कृष्ण जी ने बोले ना जो हो गया यू तो होना था भाई उन्होंने पर वो वही बैठा बालिया मर हाथ जोड़े महाराज मेरे से गलती होगी मेरे से मैंने तो कोई पशु समझा था भगवान कृष्ण के पाम एक पदम का निशान था जिसमें बहुत चमक होती है और मैंने वो पां पे पां रख के ऐसे महाराज लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे और उसके जो फुंगड़ों में कहे झुरमटों में कहे उसने सोचा कोई मृग बैठा है इतनी मोटी आंख वाला और उस आंख समझ कर उनके पांव में तीर मार दिया तो कह महाराज मेरे से गलती होगी अक्षमा कर गया मैं पापी जी हूं मैंने नहीं पता था भगवान है तो बोला ना भाई गलती नहीं हुआ करती भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ में लाओ परमार्थ में लाओ कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे क्योंकि तीन लोक के अंदर अदला बदला जरूर है तो मैंने कहा था कि भाई त्रिता युग में द्वापर युग में दूंगा तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं अब युधिष्ठर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था सारे खड़े थे फिर वो बालिया झीमर चला जाता है बालिया झीमर चला जाता है फिर कृष्ण भगवान कहने लगे भी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो पांचों पांडव से कहने लगे आ क्या अर्ज है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो गाड़ दो गड़ा दो अक महाराज अब अर्जुन प्रश्न करता युधिष्ठिर नहीं बोलता न बोले महाराज के कारण हो गया हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाए के कारण से तो वहां कहते हैं भाई सत्संग में बात नहीं करें कोई ध्यान से सुनो जितनी देर सुनो और आप, नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के या नहीं बोलना किसी ने तो युधिष्ठिर जी कहने लगे अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाकर हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप क्रम लागू नहीं होंगे और ये हमने फिर आप यज्ञ करी उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप क्रम खत्म हो जाएंगे दो बार यज्ञ करी और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप क्रम गड़ा जाओ गल जाओ सारे और तब करो आप खत्म हो जाएंगे कहते भगवान आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई कोई बात नहीं समझ में ना आई आई आप ये काम करो अब ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बहुत विद्वान थे भगवान अपने सौलोक को चला जाते हैं अब कबीर साहब कहते हैं यहां तक के तो ज्ञान शास्त्र देते हैं अब आगे का मैं बताऊं पांचों पांडव हिमालय में गढ़ जाते हैं युधिष्ठिर जो है केवल उनका पंजा पंजा गढ़ता है वो सह शरीर अपने पिता के पास चले जाते हैं ये पांचों कौन थे युधिष्ठिर धर्मराय का लड़का था जो लेखा जोखा करता धर्मराज उसका पुत्र था यहां नाटक करने के लिए आए थे जिस प्रकार एक फिल्म के अंदर करोड़पति का लड़का एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा में सही रोल कर रहा कति रिक्शा कूलर का और गरीबी का और भाई जिस ढंग से वो रहता है एक भिखारी का कर रहा है वो सही रोल कर रहा है वो ना तो भिखारी है उस पिक्चर में पर पिक्चर देखने वो बिल्कुल सत लग रहा है आनंदित भी हो रहे हैं दुखी भी हो रहे हैं उसके दुखों में तो ये इसी प्रकार वहां से ये पांच महाशक्तियां आई थी अर्जुन जी के साथ कृष्ण जी के साथ युधिष्ठ धर्मराज का लड़का और भीम पवनदेव का लड़का और अर्जुन इंद्र जी का लड़का और ये जो दो थे नकुल और सहदेव ये अश्वनी देव के लड़के थे ये चारों के चारों को नरक में डाल दिए कबीर साहब बताते हैं युधिष्ठिर को छोड़ के युधिष्ठिर अपने पिता के लोक में चला जाता है धर्मराज के लोक में अब वहां जाके कहता है कि मेरे भाई कहां क्योंकि ये ममता जोसेफ बहुत देर तक अब एक सफर में भी हम काफी देर रह ला एक सकूल में जो दो साल चार साल दस साल कट्ठे पड़ गए जब वो न्यारे न्यारे चले जाते हैं तो कभी ममता जरूर उमड़ेगी कि एक बार फेट का जिनका अच्छा सुर रहा मिल के आओ तो इसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अपने पिताजी से कि वो मेरे भाई कहां है युधिष्ठिर जी के पिता यानी धर्मराज कहने लगे कि कोई किसी का भाई नहीं था वहां तय वहां तो एक खेल अपना खेल का है सो तुम और वहां कोई किसी का भाई नहीं तू तो मेरा पुत्र है और ये तेरा लोक है ये तेरा राज यहाँ रह उसमें इतनी ममता होगी कि नहीं बोला मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा जो मेरे साथ सौ साल रहे कितने दिन रहे और मेरे रह नहीं सकता मैं मैं पागल होने जा रहा हूं तो धर्मराज ने बताना पड़ा कि वे चारों नरक में पड़े हुए कहने का नरक में क्यों गए कि उन्होंने एक महाभारत किया था युद्ध किया था उसका पाप क्रम वो भोग रहे अब युधिष्ठिर जी कहने लगे उनका कोई समाधान हो सकता है हो सकता है आप अपने पुन उनको दो वो कुछ समय के लिए उन पुनों को भोगने के लिए बाहर आ सकते हैं पर कर्म फिर भी भोगने पड़ेंगे पाप भी आप अपने पुण्य दे सकते हो और उनको बाहर निकलवा सकते हो कुछ समय के लिए जितना वो पुण्य दोगे उनके बाद फिर उन्होंने वो कर्म फिर भोगने पड़ेंगे उन्होंने बोला जी एक बार बार कटवा दो बोला जा भाई तेरे पुण्य जाएंगे इसमें अग जान दो कि ममता बहुत बुरी चीज होती है वहां जाकर के अपना संकल्प कर देते हैं कि मेरे पुण्य इन चारों भाइयों को चारों को संकल्प करता हूं और ये नरक से बाहर आ जाए वो चारों फिर नरक से बाहर आए जब बार आलिए जब उनके पांव पकड़कर रोए हैं युधिष्ठिर जी मैं ठीक नाट गया था उस महाभारत में युधिष्ठ लड़नते परंतु मेरी एक नहीं बसाई ये कबीर साहब कहे मैं अपनी तरफ से नहीं कहता गरीब दास शास्त्र प्रमाण तो यहां बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज कहते हैं कि इस महाभारत को आप सौ व पढ़ लो और लाख व पढ़ो ज्ञान हो सके कि के, के, के काम उस दौरान हुआ और कौन सा करने का था और कौन सा ना करने का आज गीता जी की कसम खाकर और कोर्ट में कई सालों तक और हाथ दिया जाता है कि मैं गीता जी की कसम खाता हूं क्यों हमारा श्रेष्ठतम हिंदुओं का श्रेष्ठतम यह ग्रंथ है और जो गीता जी की कसम खा ले वो नरक में जा सकते अब दोनों तरफ से गीता जी पर हाथ जाते हैं जो जुल्मी है वो भी इधर है मुरजम भी और जो दूसरा भी इधर है गवा भी इधर है जो कहूंगा साच कहूंगा साच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और फिर जो तो तो फैसला हो उसे वो फिर एक तो जूठा होएगा जब दोनों कसम खावे तो भाव ये से कहने का हमारा कि यहां जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का आप इसको लीजिए गीता जी के ज्ञान तक अंतकरण साफ हो सके संतों के सत्संग सुनने से अंतकरण साफ होगा पर कर्म जन्म मरण फिर भी नहीं मिटेगा बाद दिया समार दिया खूब का उस अच्छी तरह तैयार कर दिया पर बीज ना बोया अब बीज के ऊपर रोला होगा आवागा सारी बात अब कोई कहे कि हम बीज बोते हैं राम जपते हैं कोई कहे कृष्ण जपते हैं कोई कहे अल्लाह जपते हैं हम खुदा जपते हैं कोई ज्योत निरंजन जपते हैं कोई ओम जपते हैं अब ये बीज है ये नाम अब बीज है अब जिस नाम का जाप जिस ढंग से करोगे उसका लाभ आपको वहीं तक का मिलेगा राम और विष्णु भगवान का लाभ लेने के लिए राम और कृष्ण का जाप बंदी छोड़ना नहीं बताया ये आदरण की दृष्टि से आदरणीय ये नाम है पर मुक्ति के नाम राम और कृष्ण या ये नहीं है उनका आदि नाम तो जब से सृष्टि रची थी कृष्ण कोई आज का नहीं है जब से सृष्टि रची थी ये तीनों देवता बने आए थे इन तीनों का आदि नाम सत्य नाम स्वरूत है ब्रह्मा जी का सतनाम वो हम जाप करते हैं रोजाना और हमारे बच्चे भी जाप करते हैं प्रतिदिन 108 बार 108 नहीं 108 गुना में चार चार बार एक ईस्ट ब्रह्मा का और विष्णु जी का आदि नाम इसमें लिख रखा कि जब तक सृष्टि रची थी उस समय विष्णु जी का यू नाम था अब मेरे सौ नाम भर लो आप पर असली नाम तो असली रहेगा बैंक में तो पैसे कटाऊंगा तो उस असली नाम तो लिख देंगे और कितनी स्तुति करें जाओ मेरी या मैं भी करें जाऊं अपने नाम की प्रधानता पर नाम असली एक कैसे सतनाम बोल रहे हैं उसने वो सतनाम को आवास है विष्णु भगवान का भी सतनाम एक से जो इसमें लिख रखा है कबीर साहब ने और गरीबदास और शंकर भगवान जी का भी सतनाम है जब से ये आए थे जिस नाम के ये वश है ये लाभ देते हैं वश क्या चीज होती है कि एक मंत्र होता है आम नाम तो नहीं लाभ मिलता जैसे एक मंत्र होता है कि सांप को यहां बैठा गारडू बुला सकता उस मंत्र के पढ़ देने से और और से उस नाग की कितनी स्तुति कर ले सांप की तू कोबरास है तू फणदार फणधारी तेरी मोटी मोटी आंख से तू लंबी पूछ डाला से कितने गीत गा लो वो सांप नहीं आओगा और वो मंत्र बोल दो कति स्तुति ना करो वो वश है उसके वो टुड़क टुड़क वहीं आ जाएगा इसका प्रमाण है एक बार कहते हैं युधिष्ठ राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ गया सांप के डस जाने से उसके पुत्र जन्म देने का स्वयं एक यज्ञ करवाया किस प्रकार का कि उस यज्ञ में ये सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए इस सब सर्प सर्प नष्ट हो जाने चाहिए जिसने मेरे पिता को दसाया उस सक तक अब बड़े बड़े पंडित विद्वान आए वो कहने लगे हमारे पास ऐसे मंत्र हैं हम यहां बैठे और जितने भी सांप पृथ्वी के सबको इसमें हवन कर सकते हैं जन्मे से इतना बदले की भावना थी कि सबको नष्ट कर दो सर्प जाति नहीं रहे हवन शुरू हुआ अवन कुंड के वो मंत्र बोले गए पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे आकर के नो रेल लेंडे के लेंडे यानी टोल के टोल गुच्छे के गुच्छे और हवन कुंड के अंदर बसम हो रहे हैं जन्म जय प्रसन्न होता है लेकिन जब कहने लगे जी पृथ्वी पर कोई सर्प नहीं रहा जो सारे इसमें भसम हो चुके तो तक्षक फिर भी नहीं आज जिसने उसका पिता डसा था कहने लगा वो कहा है एक विद्वान ने ध्यान लगा यहां से समाधि लगाकर बता दिया कि उसने इंद्र के पास शरण ले रखी है अब हम तो थोड़ी सी बात आड़े दिनों बता देना तेरा मकान का मुंह नोन से हमने कहा वो ले यू तो पूर्ण संत है और गरीबदास महाराज कबीर साहब उनको भी फेल करते हैं कि जो यहाँ बैठे ने बता दिया गया इंद्र लोक में क्या हो रहा विष्णु लोक में ये जानकारी होने से क्या आत्म कल्याण हो जाएगा तो फिर क्या हुआ उसने बताया कि जो तक्षक है उसने इंद्र जी के पास शरण ले रखी है नो बोला उसने भी बुला दे कोई सा मंत्र पढ़ यहाँ सहते मेरे पर कितना पैसे ले लो और वो तक्षक यहां जाना चाहिए एक पंडित बहुत विद्वान और साधक था ने बोला जी मैं बुला दूंगा उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो तक्षक जो था वहां से खिसकना शुरू हुआ उसने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि मैं तो खिंचा जा रहा हूं मेरी रक्षा करो नो बोला मेरे सिंहासन के लपट जा इंद्र के सिंहासन के लपट गया फिर उसका मंत्र फेल हो गया नो बोला जी भाई अब उसने शरण ले ली जी कति इंद्र सिंह इंद्रासन के नीचे लपटा हुआ है नो बोला भाई सा विद्वान है जो इंद्र इंद्रासन समेत यहाँ ले नो बोला मेरे पास एक और खड़ा हुआ नो बोला जी मेरे दोरा रस पढ़ देता हूँ भी और किम में ले लिए इसका कहते हैं उसने वो मंत्र शुरू किया और इंद्रासन उठना शुरू हुआ इंद्र ने आवाज लगाई अर्ज करी भगवान विष्णु से कि मेरे राज को बचाओ आपने दिया हुआ राज आज मेरा नष्ट हो रहा है न्यू हो रहा है तो फिर विष्णु भगवान ने एक ऋषि उसका नाम मैं भूल गया वो भेजा कि उसको समझा दे भाई देख तेरा बदला बतेरा हो लिया ईब तो माफ कर दे उस ऋषि ने आकर समझाया भाई विष्णु भगवान का संदेशा है और इस कुकरम ना तू बंद कर दे तो लाखों मार दिए एक ना है तो कोई बात नहीं और उसको तो नहीं मत मार और इतने इतने पाप कर्मा ने किधर के ले जाएगा तू सर पे तो कहने से वो मान जाता है और तक सबकी जान बच जाती है अब महाराज गरीबदास कहे कि इसी इसी शब्द अरिसे मंत्र बोलनी है और ईब कोई बोल देने रे सांप ना बुला देता तो हम क्यों के समझ लिया उसने तो उनको भी महाराज कहें ये गधे की जो निम जाते हैं जो ऐसे साधक है और हम थोड़ा सा नो कहे इतनी ऊंचा उठ जा कर है बस क्या क्या कहने तो ये जो हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपना साधक साधना तो हम इनको सब कुछ मान बैठे जो कति मानन के नहीं थे अब हम साधना के ऊपर आते हैं तो उन पांचों उनके सत नाम है इस प्रकार इन नाम के वो वश हैं और इस नाम के जाप करने वालों को उनको ये नाम देना पड़ता है अब हमने मनमुखी नाम धर लिया हजार नाम धर लिए कृष्ण जिया के विष्णु जिया आगे इब पानी पा चाहिए आपा ने जल चाहिए उसके तीन नाम धर लिए जल पानी जल पानी नीर जल पानी नीर जल पानी नीर के तो कोई आयो भाई पानी चाहिए तो जल कह दे भाई पानी पीऊंगा जल ले आ जाओ और न्यू बेवकूफ बने तो कोई सा लगता नहीं गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि जल पानी नीर जल पानी नीर और भी धर ले वाटर जल पानी वाटर जल पानी ये कोई तो होया एक का नाम तेरा अगर सही उसका सह तो तो भाव ये से कहने का कि हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपनी साधना और शास्त्र पढ़ने लग जा आदमी पागल हो जा रहा आखिर में नो भगवान सह नहीं ओ उस मोड़ जा रहा है वो उस तोड़ जा रहा है वो नौका विष्णु बड्डा है विष्णु शंकर पुराण का है शंकर के तो बराबर कोई शक्ति नहीं तो हम ये शास्त्र आपको पढ़ कर सुनावांगे क्योंकि सात दिन का समागम है ये एक नहीं ये मेरे पास विष्णु पुराण शिव पुराण और सत्यार प्रकाश महाभारत रामायण गीता जी ये सब के रखे इनको पढ़ कर सुनावांगे और फिर इस गरीब दास्तियां मिलावांगे इन ने जो लिख रखा वो बिल्कुल सौ का सो सत्य है जब ये सत्य हो सके तो जो इन और बता रहा है ऊपर की वह कौन सी गलत हो जाए कि साधना एक और करनी है जो आप नहीं करते बोल सतगुरुदेव की अभी आपने सुना के जिस प्रकार तो उस भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि मैं इस बात को नहीं जान पाया आज तक कि सारी मां भारत को फेल करने वाले वो सुपत जी कहां से आ गए जब उसको ये जानकारी हुई क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मा हुए अनंत करोड़ होए ईश और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश तो उसको बताया कि भाई परमात्मा कबीर साहब के अंदर वो शक्ति है कि उनके सतनाम को जाप करने से ये जीव भी पीव बन जाता है जो तीन लोक के परमात्माओं में शक्ति होती है वो सतगुरु के उपासक हंस में हो सकती है अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहब में क्या शक्ति थी जिस प्रकार हमने भगवान राम और कृष्ण जी को ईश्वर संज्ञा में ले रखा है उनकी लीलाओं को सुनकर उनकी महिमाओं का जानकारी हो जाने से उनने के के काम करे क्या क्या किया कि गीता जी के ग्रंथ का उन्होंने हमें ज्ञान दिया उसको हमने बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मानकर भी उनको ईश्वर संज्ञा में लिया दूसरा ये है कि उन्होंने अपने पिताजी को कैद से छुड़वाने के लिए कंस का वध किया और जैसे पूतना को जहर बुद्धि का जहर लगाकर मारने के लिए पूतना गई थी भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया और मरे नहीं और भी बहुत से कितने राक्षस गए थे उन, उनके काबू में भगवान कृष्ण नहीं आए इन शक्तियों की जानकारी हो जाने से लीलाओं के ज्ञान से हमने उनको ईश्वरीय संज्ञा में ले लिया और इसमें कोई शक नहीं इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहेब तथा गरीबदास जी बतावा है कि ये तीन लोक के परमात्मा थे अब हम आपको कबीर साहब की लीला बताएंगे गरीबदासियों ने जो भी वो देखा था अपनी आख्या तय यानी सुरत की आंखों से अंतकरण की आंखों से बाहर की आंखों से काम नहीं चल रहा बहुत से पथ भ्रष्ट समझो मार्ग से भ्रष्ट हो, हो चुके हैं जो भगतजन वो केवल आंखों से ही नो कहीं नाखों से दर्शन करवा देता हूं भगवान का तो इसका मतलब है कि जिन जो अंधे हैं वो तो इन आख्या का दर्शन कर ही नहीं सकते वो तो परमात्मा सूरदास जी तो ईश्वर के दर्शन कर ही नहीं सके था वो आंखें और हैं जिनसे ईश्वर के दर्शन होते हैं परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं तो उन आंखों से कबीर साहब ने गरीब जियों को वो ऊपर के मंडल दिखाए और जो उन्होंने देखा वही यहां पर लिख दिया महाराज कहते देखती कैत हूं अनदेखी कैत नहीं ये जो भी मैंने लिख रखा अपनी आप देखी हुई कही से इसमें झूठ रती भरनी है तो अब हम आपको कबीर साहब के बारे में जानकारी देंगे कि उनमें क्या शक्ति थी हमारे पास कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है अनंत कोरोड़ जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं कबीर साहब इस कलयुग के अंदर वैसे तो बहुत बार प्रकट हुए बहुत बार परंतु लंबे समय में जो प्रकट होकर रहे वो कबीर नाम से और काशी जी में प्रकट हुए विक्रमी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 में जेठ उतरते की प्रवासी पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ कबीर साहब काशी से लगभग ढाई तीन चार किलोमीटर की दूरी पर एक लहर तारा तालाब है उसके अंदर अपने सब इच्छा से अपने सतलोक से आकर और एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए पूर्णमासी को पूर्णमासी को जेठ उतरते की पूर्णमासी विक्रमी सम्मत 1455 सन तेरह सो अठानवे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बंदी छोड़ कबीर साहब लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए और नीरू नीमा नाम के नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे पति पत्नी थे वो पहले ब्राह्मण थे जाति से ये आप सामने देख रहे हो ये बंदी छोड़ कबीर साहब है और यहां एक ऋषि आपको बैठा नजर आ रहा है इसके बारे में बताएंगे और ये ऊपर से आकाश से प्रकाश आया इस सारे लहर तालाब को एकदम इन्होंने जगमग कर दिया सारी रोशनी इसमें होगी और बंदी छोड़ महाराज एक बच्चे के रूप धारण करके इस कमल के फूल के ऊपर अपना विश्राम करते हैं निमा ये दो हिंदू यानी पंडित थे जाति के इनका नाम था गौरी शंकर और सरस्वती गौरी शंकर नीरू का नाम था और नीमा का नाम था सरस्वती ब्राह्मण थे लेकिन उस समय हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा था राजा मुसलमान थे और हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाता था मुसलमानों ने क्योंकि ये विद्वान थे शंकर देव के ज्यादा उपासक थे शंकर भगवान की जो शंकर पुराण है शिवपुराण का ज्यादा अध्ययन किया करते थे तथा सुनाया करते थे लेकिन मुसलमानों ने यह सुहाया नहीं उनके इतने अच्छे ज्ञान को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया और जो इनके वंशज थे पंडित जी उन्होंने इनका सहयोग नहीं दिया बल्कि ये मान करके तुम्हारे को तो मुसलमान बना दिया आप हमारी जात में नहीं आ सकते जबरदस्ती उन्होंने पानी पिलाया था मुसलमानों ने जबरदस्ती और उस दिन के बाद उनको हिंदू समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया यानी वो अपने समाज से निकाल दिया अब उन्होंने देखा कि मुसलमानों वाला काम तो हमारे बस का नहीं ना मांस खा सकते और ना हम नमाज पढ़ सकते उन्होंने फिर भी अपने इष्ट की उपासना जो की तो रखी और एक ताणी बुण का काम शुरू कर दिया अब जैसा कर्म कोई करे वैसा ही उसको नाम दे दिया जाए जैसे हमने देखा कि एक जाट एक जगह चिनाई का काम कर रहा ठेकेदार के पास उसको सब मिस्त्री के जाट को वहां कोई नहीं कवा था एक पंडित बहुत गरीब था उसने किसी ने सलाह दे दी कि भाई तो दिल्ली में अपना खोल ले दुकान नाई की नाई की दुकान खोल ली तो वहां उसको नाई कहेंगे पंडित जी कोई नहीं कहेगा तो जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी के नाम से हम प्रसिद्ध हो जाते हैं जाने जाते हैं तो उनका क्या हुआ जी उन बेचारा ने अपना ताणी बन का काम शुरू कर दिया पहले आम में हुआ करती दरीदारी पे आम छोरी बहू बनाया करती थी आदमी भी बना इधर सरसा जिले में हम गए थे वहां पर अब भी खड्डी बनाई हुई उन्होंने अपनी दरिया बनाती है बहने लड़कियां बहन खेस बनाती हैं लेकिन वो उन्होंने एक विशेष उसका साधन वो बेचनी शुरू कर दी महाराज के पिताजियों ने अपना रोजी रोटी के लिए तो उनको जुल्हा नाम दर दिया जो खड्डी का काम करे वो जुल्हा जाना जाता है उनका संतान कोई नहीं थी कहते हैं एक उन्होंने गंगा में नहाना भी बंद करवा दिया पंडित जियों ने कि यहां आप स्नान नहीं करा करोगे वो नहाने के लिए लहर तारा तालाब पर जाया करते उसमें कहते हैं उस समय गंगा का कुछ पानी रिस्क है और आता था वो बरियारा आ करता था बहुत स्वच्छ निर्मल जल से बहुत लंबा चौड़ा सरोवर था तो वो उड़न आया करती जा करके दोनों जने मुंह अंधेरे जा करके तो ये सुबह सुबह जा रही थी जब नहान लागे तो उन्हें देखा कि एक लड़का कमल के फूल के ऊपर है और पा मारने लाग रहा पानी में क्यों थोड़ी थोड़ी सी सूर्य रोशनी प्रकाश होने लगा तो उसी समय नीमा ने नीरू अपने पति से कहा कि आप एक देखियो बच्चा डूबेगा अब नीरू ने कहा कि इस जल में भी इसने बच्चा दिखा क्योंकि संतान नहीं है बेचारी पागल हो रही है उन्होंने बोला इस जल में बच्चे का के काम अगजी जल्दी देखो देखो डूब गया वो डूबेगा बच्चा अब उसने भी इतनी कराट से कहा तो एकदम नजर गई सामने देखा है तो कम से कम भी बहुत ज्यादा पानी उसमें और बहुत दूरी पर लगभग पचास फुट की दूरी पर बच्चा नजर आवे अब वहां पर ना तो कोई औरत धरका आ सकती और जच्चा तो भी ना बढ़ सका उस पानी में तो भाव ये सक लोग वैसे मनमुखी बना रखा कई भाई कहें से कि वो तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुआ था श्रम की मारी की तज गेर गई थी एक टोकने में पाया था नो पाया था ये सब बनावटी बात से कति नरी झूठ है नो कहे बिना माँ बाप का पैदा ही नहीं हो सकता जब शुरू में सृष्टि रहती जब कैसे हुई थी कौन था माँ था बाबू था पहले विचार के लिए वो परमात्मा बना भी सकता है और आप भी आ सके इसमें कोई आठ मानन की आवश्यकता नहीं और जिस परमात्मा पर पाबंदी होगी नो नहीं कर सकता तो भगवान नहीं है ईश्वर संज्ञा में नहीं है वो जो चाहे सो कर सके तो जी वो भाग के अंदर गया और समेत फूल उस बच्चे को ले आता है आज कबीर साहब एक कमल के फूल लगा ऊपर है लहर तारा तालाब के अंदर आए वहां पर नीरू जो है नीरू भाग करके अंदर से उस कमल के फूल में थे और सजा फूल उठा जाता है और नीमा को दे देते हैं ये साथ में नीरू खड़ा है और ये इधर महाराज कबीर साहब को लिए नीमा खड़ी है सरस्वती जी जो कि जिनका पहला नाम सरस्वती जी था तो अब उसने निकाल तो लिया बच्चे को फिर उसके याद आई अक्तन तो चाड़ा कर दिया पहले तो हमारे को हिंदू से मुसलमान बना दिया और अब हम इस लड़के ने ले जाएंगे तो हो सकता है वो लोग हमें ताने देकर बुरे अच्छी कह करके और किसी राजा को सिकला करके कहीं से हमें देश निकाला ना दे दें तो क्या करें उसने जो कहा अपनी पत्नी नीमा से कि इस लड़के ने यही डाल दे हम नहीं ले जाएंगे अब औरत की आत्मा बहुत नरम हो है ने बोली जी मेरे यू बालक नहीं गिरा जा सकता ये बच्चा मेरे से नहीं पढ़ सकता क्योंकि मां ने बेरा होश है कि नवजात शिशु और इसके मां नहीं बाप नहीं कितनी बुरी हालत में यू तड़फेगा मरेगा ने बोली जी देख मैं तो इसमें छोड़ नहीं सकती तो ये छो मां आ गया आखिर में नीरू जी कि मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा और इसने गेर यहीं पर या फिर रोन लागी बैठ कर बोली कुछ नहीं इतनी कराहट देख कर माई की तो बंदी छोड़ कबीर साहब एक दिन के शिशु बोलते हैं कहने लगे भगत जी मैं आपके लिए सतलोक से आया हूं और मुझे घर ले चलो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और इतनी आवाज कबीर साहब के मुंह तक सुनकर उस नीरू की पिट्टी का पिंडी का कापन लागी घबरा गया कि ये पता नहीं क्या देव है या कोई गण है या कोई भूत प्रेत ना हो और घबरा कर ने बोला भाई तो ले चाल बेशक मैं कुछ नहीं कंदा आपते उस बच्चे को लेकर घर ना आ जाते हैं तो वहां क्या होता है बच्चे को लेकर घर ना आगे विचरते अब किसी ने बेरा पट्टा भाई ये तो एक छोरा ठा लाए किसी का कोई तो कुछ कहे कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे तो ये दोनों घबरा जाते हैं कि केरा होगा अब मुसलमानों को पता चला कि चलो लड़के का नाम रखेंगे और अपनी कुरान लेकर आ जाए अब यहां गरीबदास जी की साखी पारक के अंग से आपको सुनाते हैं है तो इन्हीं की बाकी इसमें नोट कर रखी अलग से शोर्ट में तो बहुत बड़ा पारक का अंग से तीन चार घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो तीन दिन में समझा जाएगा लगातार छह छह घंटे समझाओ जब पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे यहां लिखा है ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए सो तो एक कबीर हैं जननी लड़ा नमाए वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है ना किसी माँ का पैदा हुए ना किसी जननी का हुए अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए सतपुरुष ये बंदी छोड़ को है बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी गरीब शब्द स्वरूपी सायब धनी सबद सिंध सब माही बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही ग्रीब जल थल साक्षी पृथ्वी ग्रीब जल तल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख है गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही सेवक होकर एक छोटे से बुण मिया या बन का बंदी छोड़ ग्रेब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधार मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार मोमन मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वेराइटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं ग्रीबे कोट करण शिशिबान सोदे आसन अदर गमान परसत पूर्ण ब्रह्म शीतल पिंड और प्राण जो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान शुद्ध अनंत करोड़ शशि कहे चंद्रमा और भानु कहे सूर्य को इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में और क्या नाम उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछ जो आनंद माई ने पर, आ, महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते हम तो उनके नाम लेते हमारे शरीर में करनाट हो जाता है इतनी शरण सरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़कर ना मानते और जिस उस, जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती कर और शरीर से सप्रस किया उस बच्चे के रूप में उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते वो भी नहीं कर सकते यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दो हम कहते हैं ग्रीब कोट कोट किरण बान सोदे आसर आसन अदर विमान परछत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया फिर मुंह चुम्या लाड करे परमात्मा की धन्य है वो माई अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था थोड़ा सा प्रकरण और दे दें ये उस सुपत सुदर्शन बाल्मीक के पिता पुत्र माता पिता थे द्वापर में तो उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सट मान लिया लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो कबीर साहब मुनि करुणा में जी के नाम से आए थे ना आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है हमने इन्हीं के बारे में जानकारी अनपढ़ थे जंगल में रहते थे लेकिन नहीं माना तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता गुरु जी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी करवाए करी दिया मैं बोला भाई देख इस जन्म मत तो ये मान देने इनको फिर जन्म दूंगा और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे सारा ने गेल ले जाते सतलोक में और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे कबीर साहब परमात्मा थे जब इन दर्शन का अगर मुक्ति होंगी होती इतना तो सारे जा लेंगे एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे तो जी वो नहीं माने दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते तो कबीर साहब जब पांच साल के चार साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनना बनूंगा आप नाम लो और पार हो जाओगे पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिना के बाद पूरे हुए उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने जब कबीर साहब ने वो तो ये मानना नहीं हो क्यों फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड ऊंच जाति का ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ दिया और औलाद नहीं थी फिर इनको लहर तालाब प्रकट हुई हाँ पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले इनको कहने लगे आप नाम ले लो तो ये नहीं माने तो पांच पांच सात दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे दिखे नहीं उनको उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे रो रो का रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं दे रहा था आप इतनी मान सकती हो फिर महाराज अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में जैसे अभी वर्णन किया तो उनको महाराज कहे जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग्या रहू जब लग धरनी आकाश फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा तारू तास के कोतर वंशा एक भी कुणबे में अगर सच्ची भावते कबीर साहब को मानता है नाम ले रखा पूरे गुरु तक तो उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके माँ बाप को भी महाराज पार करके ले गए और इस रूप में आके ले गए तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया गृह में गोद लिया मुँह चूम कर कोट हेम रूप झलकंत जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत हेम रूप जैसे हेम कह बर्फ न और स्नो व्हाइट का रण बहुत कति बर्फ के साथ सफेद इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था कहते हैं गरीबदास जी महाराज गरीब गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत गरीब काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर जो बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे कहने देखा को तेनो कहे तो ब्रह्मा के शादी कैसे इतना तेज हो मैं बच्चा कोई विष्णु कोई इंद्र कोई कुबेर और कोई कहे तो कोई देवता से गृह कोई कहे ये वरुण है कोई कहे वरुण धर्मराय है कोई कहते है ईश सोला कला सुभान गति कोय कह जगदीश गृह बे भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनू तापे मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बापे भक्ति और मुक्ति लेकर आए और तीनों तापों को मेटने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो तीन ताप को नष्ट कर देता है